कादि बाधे सा चरिते भजे उदायुषा सुवायुषो उदस्थाम् अमृता सम्मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माता मनुष्य जीवन को सफल बनाने का व्यवहार मनुष्य जीवन को सफल बनाने की विद्या और मनुष्य जीवन को सफल बनाने की उपासना योगाभ्यास आप जो प्रतिदिन वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं ये प्रत्येक व्यक्ति उसका स्वाध्याय करके आए ऐसा आपने किया या नहीं किया किस किस ने किया और आपने नहीं किया याद ही नहीं रहा या थे ही नहीं आप या क्या याद नहीं रहा तो जब आपने सुना समझा तो आपने ये लिखा कि आज से हमारे ऊपर ये नियम जो है प्रचलित हो गया है कि हम प्रतिदिन उस मंत्र का स्वाध्याय करके आया करेंगे तो आपने अपनी कापी में संचिका में लिखाया नहीं जिसने लिखा हो वो बताए आपने एक दो तीन अच्छा शेष जो नहीं लिखा इन्होंने क्यों नहीं लिखा मतलब आपने क्या सोचा होगा नियम स्मरण हम्म? नियम स्मरण है पूर्व में भी बताया जा नहीं स्मरण होना एक स्थिति है इसमें कितनी बातें होती हैं आप इसको भूल सकते हैं तो फिर क्या करोगे भूल सकते हो या नहीं इस नियम को तो नहीं नहीं आप बताओ भूल सकता है या नहीं व्यक्ति नियम ये है कि वो भूल सकता है या नहीं है तो भूल सकता है तो उसको लेखबद्ध क्यों नहीं किया या तो ये माना होगा आपने कि हम याद रखेंगे एक स्थिति अथवा ये लिख लेना जो है आवश्यक नहीं है अथवा इसको हम भूलेंगे तो ये ये हानियां होंगी ये दिमाग नहीं बना हानियों का पता नहीं और विकल्प बताने वाले पर कोई विशेष विश्वास नहीं है नहीं समझ रहे आदमी बातों ये ऐसी बातें हैं या नहीं है आप बताइए इसके पढ़ते रहने से कितना लाभ होगा न पढ़ने से कितनी हानि होगी ये दिमाग में नहीं और इसके पालन न करने से हमको दंड मिलेगा मिल सकता है ये भी दिमाग में नहीं जब किसी बात को जब गहराई में जाके देखते हैं तो मैंने थोड़ी सी बात के ऊपर इतना विश्लेषण कर दिया और भी किया जा सकता कि क्या क्या व्यक्ति प्रमाद आलस्य करता व्यवहार की भूल हो विद्या की भूल हो उपासना की भूल हो तीनों क्षेत्रों में वह भूल करता और विफल हो जाता सफलता मिलती नहीं समझ में आया नहीं आया हम्म? आप समण रखिए आपने जैसे कुछ दर्शन पढ़े जिन्होंने पांच दर्शन पढ़े फिर वो सोचेंगे हम व्याकरण पढ़ें फिर निरुक्त पढ़ें फिर वेद और ज्योतिष और ये फिर भौतिक विज्ञान ये ऐसा पढ़ेंगे अब तो पढ़ते चले जाएंगे आप पढ़ते जाएंगे पढ़ा भी देंगे कुछ लेखक भी बन जाएंगे आप अध्यापक बन जाएंगे आप आपको सम्मान मिलेगा धन मिलेगा अधिकार मिलेगा और आपने उपासना का जो उपयोग प्रयोग है योगाभ्यास को आपने या तो छोड़ दिया या आपने उसको गौण मान लिया तो आपका सारा पढ़ा लिखा योग की दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से व्यर्थ हानिकारक सिद्ध होगा क्या क्या समझ में आया आपने दर्शन पढ़े आपने निरुक्त पढ़ा छंद शास्त्र पढ़ा या ज्योतिष भी पढ़ लिया फिर वेदों को पढ़ा उपवेदों को पढ़ा भौतिक विज्ञान को आप इतना होने पर भी आपने ईश्वर की उपासना को या तो छोड़ दिया या उसको गौण बना दिया दोनों स्थितियों में आप चौपट हो जाएंगे आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य समस्त दुखों से छूटना नित्यान की प्राप्ति की दृष्टि से निश्चित विफल हो गया इसकी भी दो स्थिति है आप एक सामान्य व्यक्ति लौकिक की दृष्टि से कुछ अच्छे बने रहे इन कामों को करते रहे धार्मिकता कुछ बनी रहे एक स्तर है दूसरी स्थिति बताता हूं दूसरी स्थिति ये होती है वो सामान्य स्तर जो तो धार्मिकता का है उसको भी खो बैठता है नहीं आया कुछ कम समझ में आया एक स्थिति है वो इतनी विद्याओं को पढ़ने वाला पढ़ाता है वो उपदेश देता है गुरुकुल चलाता है वो लेखक है समाज के लिए अच्छा काम करता है पर यदि उसने उपासना को छोड़ दिया योगाभ्यास को या उसको गौण मान लिया तो ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से वो विफल है ईश्वर की दृष्टि से वो व्यक्ति अच्छा नहीं है साधारण व्यक्ति तो कह सकते हैं विशेष अच्छा व्यक्ति नहीं मान मान सकते प्रमाण की दृष्टि से यदि देखना हो तो आप वेद के मंत्र को ही ले लें ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेदु येद वेद किम ऋचा करिष्यति यह इतद विदु त इमे समासति ये मंत्र किसी ने पढ़ा हो आप में से किस किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा आप अब तक आपको अर्थ याद है पूरा आप याद है आप याद अच्छी तरह बोला करो आप जो है मंत्र का वो बहुत बार सुना भी अरे तीन बार क्यों बोलना पड़ा आपको पहले ही सोचते ये अक्षर होंगे ये शब्द होंगे और ये वाक्य होगा और स्वामी जी को सुनाई देगा इतना पहले सोच फिर वाक्य बोल देते इस मंत्र का भाव कुछ तो याद होगा इसमें संकेत दिया है जिस ईश्वर में सारी विद्याएं हैं जड़ और चेतन देव जिसके आश्रित रहते हैं आकाश के तुल्य जो सर्वव्यापक है नहीं समझे रिचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्व निषेध जड़ चेतन सारे देव उसके सारे जो रहते हैं यह स्तन वेद है जो व्यक्ति उसको नहीं जानता किम ऋचा करी सकती वो ऋग्वेद आदि को पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने ये तो संकेत दे दिया ऋग्वेद तो संकेत दे दिया किम ऋचा करी सकती का वेदों की ले लो फिर भौतिक विज्ञान को जितनी विद्याएं सारी के साथ जोड़ो वो ऋग्वेद आदि पढ़ पढ़ा करके क्या करेगा कुछ भी नहीं अपना विनाश करेगा ईश्वर का उपदेश है किसी व्यक्ति का नहीं है ईश्वर का निर्णय है ये फिर ऋषियों का निर्णय भी ऐसा ही है जैसे ऐसा ही ऋषि मानते आपने केन में पढ़ा होगा फिर धारण क्या छंदोगे माता वो भी पढ़ा होगा धारण में वो है आधार दिखता है जिसमें ये बात आई है कि हे व्यक्ति तूने यदि ईश्वर को इसी जन्म में जान लिया तो सत्यम किसमें है ये है आपको पता ही नहीं हो ये ये कहा है बिना सोचे कह दी पाठ क्या है मूल यह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्थि नो चेदी अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचिंते धीरा ये केन में है या कठ में है तो कठ में क्यों बोला आपने बिना परीक्षा किए निर्णय मत दो ब्रह्मचारी अर्जुन देव जी रहे मेरे साथ वो ऐसे मैंने पूछ पूछ लिया जैसे ब्रह्मचारी जी ये बताओ ये क्या है वो झट उत्तर दे देते इस पुस्तक में है मैंने कहा आप देखो इसमें है या नहीं वो नहीं मिला तो उनको समझाया गया पहले परीक्षा किया करो फिर कहा करो नहीं मत बोलो कि इसमें बोलना आवश्यक नहीं सत्य बोलना आवश्यक है क्या समझे आप बोलना आवश्यक नहीं है इससे क्या समझ में आया कैसे बैठे हो रही जी बूढ़े की तरह कमर झुकाए हुए अब देखो ऐसे बैठे आराम से क्या समझ में आया नहीं आया समझ आवश्यक नहीं है सत्य बोलना आवश्यक है <laughs> और इसके साथ जोड़ दो सत्य बोलना आवश्यक नहीं है हितकारी सुखदायी सत्य बोलना ये क्या समझे सत्य बोलना आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है मतलब यदि उसके बोलने से लाभ नहीं उठाता सामने वाला तो वहां सत्य बोलना आवश्यक नहीं है क्या समझे मौन रहना नहीं आई समझ में बात इफ्तकारी लाभप्रद तो बोलना आवश्यक है आज तो वर्षा होने का ढंग चल रहा थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा जमी रहेगी जब की बात है ये शारीरिक विज्ञान ये संकेत मुझे कल मिला था मेरे प्रसाद जी को सुना वर्षा का प्रभाव सदा नहीं कभी किसी कारण से कम पड़े नहीं तो पहले शरीर से पता चलता है कि वर्षा 24 घंटे के लगभग थोड़ी होगी या बूंदाबांदी होगी या कुछ अच्छी होगी उसका भी कई बार पता चल जाए आकाशवाणी वाले को तो वहां से पता चलता है भौतिक वैज्ञानिकों से ये परमात्मा का भौतिक विज्ञान है <laughs> इसे हमको पता चलता है नहीं समझे आप भौतिक वैज्ञानिक का अनुभव नहीं होने से शरीर से ज्यादा नहीं बता पाएगा कि भाई इतने काल में वर्षा होने वाली है जिन्हें अनुभव किया होगा वो तो बताएगा ये बीच में बात पता तो आपको बताया जा रहा था कि ये जो निर्णय दिया है वेद में ईश्वर ने निर्णय दिया ऋषियों ने दिया उसमें यह संतुलन था यद्यपि हमको जितनी भी विद्या पढ़नी चाहिए वो अवश्य कहें पढ़नी चाहिए उनका निषेध नहीं है पर संतुलन ये रखना पड़ता है कि विद्या पढ़ो पढ़ाओ वेद वेदांग भौतिक विज्ञान सब पढ़ो पर ईश्वर की उपासना छोड़ देना योगाभ्यास छोड़ देना या उसको गौण मानना ये हानिकारक है इस पक्ष को ऐसे सोचिए आपको भले ही विद्या कम आई है वेदों को कम पढ़ पाए दर्शनों को कम पढ़ पाए भौतिक विज्ञान को कम पढ़ पाए पर ईश्वर की उपासना प्रमुख योगाभ्यास प्रमुख रहता है रहा है तो आप सफल हो जाएंगे घाटी से अंत तक जहां से मैंने गुरुकुल में जाके आरंभ किया कभी भी ईश्वर उपासना को गौण नहीं माना सर्वोपरि ईश्वर की उपासना खाना पीना सोना ओढ़ना सारे गौण तो ईश्वर की उपासना गौण नहीं हो सकती यद्यपि मुझे कोई समय नहीं मिला मैं पढ़ पाता इतना कम मिला लेखनी में मेरी सुधार सकता लेख को नहीं समझ पाया घी दूध नाम की चीज लंबे पता नहीं आठ वर्ष कभी मिली हो तो मिली हो बीतने बीच में कोई नहीं कोई व्यवस्था नहीं और यदि जितना मुझे समय मिलता और मैं वो पढ़ने लिखने में ही लगा देता और ईश्वर की उपासना छोड़ देता तो सारा चौपट हो जाता लौकिक दृष्टि से पढ़ने में आगे निकल जाता कुछ लिखने में आगे निकल जाता कुछ अंक अधिक आ जाते ये तो हो सकता था परिणाम अंतिम परिणाम जो है वो हो देता है कि हम दुखों से कलेशों से बंधनों से छूट जाए सुख आनंद स्वतंत्रता को प्राप्त करने में इसके लिए सारी दौड़ धूप है सब कुछ इसके लिए होता है हाँ जी जब आप इतना पढ़ते थे तो ईश्वर उपासना स्वामी कैसे करते थे मैं दिन भर ईश्वर उपासना पढ़ते पढ़ते भी करता था चलते चलते भी करता था और बैठे बैठे भी करता था और प्रातः सायकाल भी करता था पहले ईश्वर उपासना में जमता था फिर अष्टाध्यायी का मूल याद करता था उपासना उखड़ जाती तो अष्टाध्यायी के मूल को बंद कर देता था आ गया समझ में भोजन खाता था ईश्वर उपासना करता हुआ खाता था नहीं आ समझ में जी तो समझ में आ रहा है मुझे लेकिन अष्टाध्यायी पढ़ते समय उपासना करते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है देखो जिस समय हम सूत्र का अर्थ समझने लगते हैं नया सूत्र है कोई उसमें में निर्बलता आ जाएगी कुछ पर छूटेगी नहीं एक मोटा उदाहरण देता हूँ आप अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं आचार्य पढ़ा रहे हैं और आपका घनिष्ठ मित्र आया है नहीं समझे तो घनिष्ठ मित्र से आपका पास बैठा है चाहे वह कमरे में बैठा है आप मित्र को याद रखते हुए मित्र के साथ सानिध्य और संबंध अपना मानसिक संबंध न तोड़ते हुए यदि भी कुछ सूत्र समझने में रुकावट थोड़ी बहुत आती होगी पर मित्र आपका जो कहते अंदर बना रहता अति घनिष्ठ मित्र की बात करना यानी एक व्यक्ति ने कहा लाख रुपया आपके कमरे में रखता हूं आपको कुछ दे देंगे इसमें से कई हजार कुछ और आप अपने कमरे में रख लो आपने कमरे में रख लिया और आपने सोचा भाई पांच हजार मुझे मिलेंगे ये दो दिन ही तो रखा करनी है और दरवाजा खुला न रह जाए ये न हो आप सूत्र पढ़ते जा रहे हैं बीच बीच में यह कि वो धन रखा है कभी दरवाजा खुला न रह जाए और उसका ध्यान रखना है और धन के प्रति जो झुकाव है वो झुकाव तो बना रहेगा कम हो या अलग बात या नहीं होगा समझ में आया नहीं आया सबसे अधिक प्रिय वस्तु याद रखते हुए दूसरे काम करता है ये बातें न समझने से ऐसी भूले होती है एक आचार्य थे गुरुकुल के कहते हैं हम ये पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं ये पढ़ाते हैं ये उनका मत था कि इस समय में उपासना मुख्य नहीं होनी चाहिए ये पढ़ाना चाहिए ये पढ़ने लिखने के पीछे आगे मैंने कहा ये भयंकर भूले मत करो आप सभी ऐसा ही कहते हैं संस्कार बनते हैं व्यक्ति के सतत संस्कार बनते जाते हैं उसके उसको खिलाने पिलाने में रुचि रखिए आप विद्यार्थी खूब पढ़ता भी हो और खिलाने पिलाने की चीज चटपटी खिलाते रहिए उसका स्वाद बताते रहिए ये खाओ ये खाओ वो खाने पीने में उसकी अच्छी रुचि बनेगी और जब नहीं मिलेगा तो वो दुखी भी होगा और पढ़ाई भी उसकी चलती रहेगी होगा या नहीं होगा विद्यार्थी की स्थिति ये है दूसरी आप ईश्वर की उपासना में खिलाने पिलाने में जैसे माता पिता खिलाते हैं बच्चे को और पढ़ाई भी करवाते हैं दोनों काम करते हैं नहीं तो दोनों चाहते हैं वो चाहता है ये पढ़ाई भी करता रहे और ईश्वर की उपासना भी करता रहे ऐसे करता रहे जैसे खाने पीने की चीज हम इसको खिलाते पिलाते ऐसे ईश्वर की उपासना को भी साथ करें तो वो खाने पीने में जैसे वो रुचि भी रहती है संस्कार बनते हैं खाने पीने के ऐसे ईश्वर उपासना को कोई सिखाए खाने पीने की तरह तो पढ़ाई भी होती रहेगी और ईश्वर की उपासना के भी संस्कार बन जाएंगे या नहीं बनेंगे कोई विज्ञान की बातें सिखाते हैं बच्चों को विज्ञान की बातें सिखाते रहते हैं और बच्चा छोटा सा होता है कि वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है कुछ ही काल में पांच बर, दस वर्ष में फिर आगे आगे बढ़ता और वो माता पिता को खिलाते पिलाते भी खूब है खाने पीने भी रुचि अच्छी जम गई उसकी ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए और पढ़ाई भी अच्छी होगी उसकी तो जैसे ये खाने पीने में भी रुचि बन गई है खाता पीता भी है पढ़ता भी है ऐसे ईश्वर की उपासना में भी उसके लाभ बताए जाए उसको सिखाया जाए तो वो उपासना में संस्कार बन जाएंगे और पढ़ाई भी होगी समझ में आया नहीं आया नहीं आया तो बोलो हाँ जी स्वामी जी मन तो एक समय में एक ही विषय ग्रहण करता है मन एक समय में एक ही विषय ग्रहण करेगा या फिर उपासना करेगा या पढ़ाई करेगा आप ये बताओ हम लड्डू खाते खाते अच्छा का पाठ कर सकते हैं या नहीं इसका उत्तर जवाब लड्डू खाना तो बाहर का विषय हो गया स्वामी जी ये देखो इनको इतना ही समझ में आया भाई मन के बिना योजना के बिना लड्डू खाना रास्ता देके पाठ कैसे चलेंगे मन हटा दो तो दोनों ही नहीं होंगे तो के लिए स्वामी जी फिर वही बात कर लोगों से भी पूछ लो मेरी बात गलत है यार भाई मन लगे बिना लड्डू कैसे खाया जाएगा राष्ट्रवादी का पाठ कैसे होगा मुझे ये बताओ मन को हटा दो पीछे निकाल दो हो जाएगा क्या लड्डू खाते खाते व्यक्ति अष्टादे का पाठ करता है और आगे बढ़ोगे तो वो देखता भी जाता है और सुनता भी है औरों की बात और कहां कहां बैठे ये भी देख लेता है दो बातें समझना आप ये देखेंगे कि एक समाधान है इतना तीव्रता से कार्य होता है उसका काल नहीं पकड़ा जा सकता दोनों काम करता रहेगा वो इतना तीव्र गति एक भाग एक भाग ऐसा होता है नया ज्ञान प्राप्त करने में व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करना हो उसमें तो ये बात अधिक ध्यान में आती है कि एक ज्ञान को पकड़ेगा वो किए हुए ज्ञानों का प्रयोग तो लगातार करता रहता है जो पहले ज्ञान कर चुका है जो जान चुका है अभ्यास हो चुका है या नहीं समझे मेरी बात जिन ज्ञानों का अभ्यास हो चुका है वो तो अनेक कार्य करता रहेगा वो नया ज्ञान नहीं है तो मुश्किल मुश्किल होना और चीजें मैंने बतलाया इतनी तीव्रता से काम करेगा विषय को भी पकड़ लेगा और दूसरी बात भी करेगा एक व्यक्ति बाजा बजाता है अब इसका ले लो और लगातार बजाता है और भजन भी गाता है वो बाजा भी बजाता है भजन भी गाता है भजन गाता है संगीत के ढंग से न कि ऐसे प्रलाप करता हो संगीत के नियम भंग नहीं होने दे रहा है टेप रिकॉर्ड हो रहा है उसका टेप रिकॉर्ड में थोड़ा सा इधर हो जाता तो बेकार हो जाएगा टेप रिकॉर्ड उसका हजारों लाखों की बातें होती है अब उस समय टेप रिकॉर्ड हो रहा है दस पांच बाजे वाले यहाँ बैठे हैं पांच वहां बैठे पांच पंद्रह बैठे हैं और वो सब के साथ मिला के उतार रहे हैं अपने संगीत को बम्बई में जाके देख लो दो ही बात है एक ये बात है कि वो इतनी तीव्रता से कार्य होते हैं वो जो हम करते हैं उनका काल पकड़ना कठिन हो जाता है सबको कर देता है इतनी तीव्रता से होते दूसरी बात एक नया ज्ञान और दूसरे पहले अभ्यास में आए हुए विज्ञान उन आए हुए विज्ञानों का प्रयोग करने में वो कठिनाई नहीं पड़ती हम अभ्यासी बन गए हैं जानते हैं कि ये ये सा है ऐसा उसमें नई खोज छोड़ी करनी ये एक भाग है और ये प्रसंग अलग है अभी उसके ऊपर विचार चल रहे हैं ये सामान्य नियम तो ये हो गया फिर आगे आता है एक प्रसंग योगियों के लिए आगे बढ़ जाइए योगियों के लिए एक काल में अनेक ज्ञान भी होते हैं एक पक्ष ये भी है यद्यपि अब इस पे ऊपर और गवेषणा होनी है कुछ समझ में आया नहीं आया आया कोई प्रसंग ये या नहीं पड़े आगे भी ये प्रसंग योगियों के लिए एक प्रसंग आता है इस ढंग का अक्रमम तो ये अभी हम एकदम निर्णय नहीं देते ना योगियों के लिए बिना कर्म के भी एक काल में भी कई जान होते आई बात समझ में नहीं आई वो और परीक्षण है कर्तव्य है ये प्रसंग आता है बहुत तो समझ में तो आ गई बात अच्छा चलो परिमः अग्ने दुश्चरिताद् बाधस्वा मा सुचरिते भज उदायुषा सुवायुषो उदस्थाम् अमृतामनु सम्मान्य विद्वजन अन्य धर्म प्रेमी सज्जनों जिन बातों को आप सुनते पढ़ते पढ़ाते हैं बातों को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते और उनका प्रयोग करते करवाते रहना पड़ता है अन्यथा विद्या प्राप्ति अविद्या का नाश नहीं हो सकता क्या समझ में आया अपनी पढ़ी जानी बातों को बार बार प्रयोग करना पड़ता है अन्यथा विद्या की प्राप्ति अविद्या का नाश संभव नहीं है विद्या को पढ़ते पढ़ाते रहना सुनते सुनाते रहना उनके ऊपर मंथन करते रहना उनका परिमार्जन संशुद्धि संशय को दूर हटाते रहना सतत उनके फिर प्रयोग मन वाणी शरीर से करना ईश्वर की उपासना सत्पुरुषों का संग सतत करते रहना यमनियमों का पालन मन वचन वाणी शरीर से करते रहना आत्म निरीक्षण सतत करते रहना ऐसी स्थिति में अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति संभव है नहीं तो नहीं कोई व्यक्ति ऐसा समझता हो मानता हो कुछ पढ़ लिया है हमने उसको दोहराना नहीं है और पढ़ाना नहीं है सुनना नहीं है सुनाना नहीं है और वो विद्या काम करती रहेगी ऐसे नहीं हो सकता उस विद्या से संपत्त विरोधी तत्व विद्या हट जाएगी ये संभावना कभी नहीं होगी बढ़ा मन जड़ पदार्थ है और उसको हम जलाते हैं वह प्राकृतिक पदार्थ है उसमें ज्ञान नहीं है स्वतः प्रगतिशील नहीं है आत्मा चलाता है आप 20 वर्ष 50 वर्ष भी पढ़िए सुनिए इसके लिए जितना ज्ञान पढ़ना पढ़ाना अपेक्षित है जितना सुनना सुनाना अपेक्षित है और बार बार प्रयोग करते रहना अपेक्षित है और दैनिक जीवन में सतत अधिकार पूर्वक चलाना आवश्यक है ये स्थिति बनी रहेगी तब तो आप मन को अशुद्ध अविद्या अधर्म अन्याय कुसंस्कारों से रोक सकेंगे अन्यथा नहीं रोक सकते जिन बातों को हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सुनते हैं सुनाते हैं लेखबद्ध करते हैं अध्यापन करते हैं वार्तालाप करते हैं उन बातों को अपने बुद्धि में मन में रखना पड़ता है और उनके मन में रखने से उसे विरोधी अविद्या तत्व उत्पन्न होता है या कर लिया जाता है जीव के द्वारा तो वो विद्या हमारे बुद्धि में हमारे पास है तब हम उसको समण रखते हैं समण रखते हैं तो तत्काल उसका प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से अविद्या को रोक दिया जाता है यदि वो समरण नहीं है तत्काल उसका प्रयोग हम नहीं करते तो अविद्या को रोका ही नहीं जा सकता कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वेदमणि जी ध्यान से सुन लो हैं अब आप प्रचार करते होंगे उपदेश देते होंगे ये मान लिया होगा भाई अब तो अच्छा प्रभाव पड़ने लग गया धन भी मिलने लग गया सम्मान मिलने लग गया अब क्या देख रेख करनी है अच्छा चल रहा जो कुछ है याद रखना धीरे धीरे आप छल कपट और यमनेम का भंग सतत करते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कहा गया एक ब्रह्मचारी थे अच्छी बुद्धि थी तो वो प्रचार के लिए चलने लगे प्रचार करने लगे प्रारंभ में सत्य की बहुत पुष्टि थी सत्य पर बहुत जोर दिया काला अंतर में वो अत्यंत छली कपटी जैसा कि नीमन से नीमन व्यक्ति होता वैसे बन के खड़े हो गए प्रारंभ में सत्य पर जोर देते थे सत्य बोलो सत्य मानो सत्य करो और कुछ कालांतर में वर्षों के पीछे वो अत्यंत छली कपटी मां झूठे व्यक्ति बन के खड़े हो गए सबकी यही स्थिति होती है एक गंभीर विषय है हमें विद्या और अविद्या के जितने स्वरूप को देखते हैं या सुनते हैं मन में लाते हैं वो इतना मोटा रूप है विद्या विद्या का उससे संतुष्ट है व्यक्ति हो जाता फिर वो आगे कोई गति नहीं करता इसकी अविद्या जो कि तू बनी रहती है ऐसे व्यक्ति कभी नहीं हटती इतना ध्यान देने वाला हमारी मन स्थिति कैसी है यदि हम मन को पूर्ण अधिकार में नहीं रखते क्षण भर भी तत्काल अविद्या उत्पन्न हो जाएगी आप प्रयोग करके देख सकते हो वो अविद्या उत्पन्न होती है और व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती है उसका आचरण फिर उस अविद्या के अनुरूप होने लगता है और सूक्ष्म स्थिति में जब तक रहती है उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे अंदर अविद्या उत्पन्न हो चुकी है मेरे विचार बहुत परिवर्तित हो गए हैं मेरा आचरण जो है वो ढीला हो चुका है उसको पता भी नहीं चलता आपने सुना होगा पढ़ा होगा ऋषि महर्षि योगी लोग वो आत्मा मन इंद्रिया पूरा जीवन उनका शुद्ध होता था पक्षपात रहित होते थे वे मनसा और वाचा शरीर से सदा सत्य का ही आचरण करते थे वो विशुद्ध होते थे वो कैसे विशुद्ध होते थे वो इस स्थिति में रहे होंगे लंबे काल तक और लंबे काल तक उस स्थिति को ज्यो का जो बनाया रखा होगा तब वो शुद्ध पवित्र रहे होंगे नहीं तो नहीं रह सकते जैसे लोक में व्यक्ति लौकिक सुख का अनुभव करता है कभी दुख कभी सुख कभी सुख अधिक कभी कम पर उसको इतना पता नहीं है कि पूरा सुख जो होता है उसकी क्या स्थिति है दुख रहित क्या समझ में आया व्यक्ति लौकिक क्षेत्र में सुख दुख सुख दुख इसकी श्रृंखला अनुभव करता है पर दुख रहित सुख की कल्पना भी उसे नहीं है हाँ वो जो दुख रहित सुख है वो कैसा होता होगा वो कैसी स्थिति है उसको नहीं जानता और इस स्थिति को समाधि प्राप्त ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला ही जान पाता है अनुभव पूर्वक शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से दूसरे भी जानते हैं शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण से जानने पर भी उसको जचती नहीं है वो इतनी कहीं कहीं जचती है बात शब्द प्रमाण पर विश्वास रखने के कारण वो अपने आप को जमाया रखता है ऐसा सुख होता है और जो विशेष प्रयत्न नहीं करता वो शब्द प्रमाण से भी निश्चय कर पाता ये शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा दोष रहित जिसको हम बोल देते हैं अविद्या से जिसको छुटकारा मिला और जहां सुख पूरा सुख प्रतीत होता है पराधीनता कुछ भी दिखाई नहीं देती बंधन रहित अवस्था है वो वो अवस्था है जिसमें जीवात्मा पूरे संसार को तीनों कालों में ईश्वर में डूबा देखता रहता है लगातार तब वो स्थिति उत्पन्न होती है ईश्वर की सहायता से वो सतत अविद्या को उभरने नहीं देता ईश्वर की सहायता यदि जीवन युक्त व्यक्ति ईश्वर की सहायता न लेवे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो फिर अविद्या उत्पन्न हो जाएगी अब क्या समझ में आया यदि मुक्त व्यक्ति ईश्वर की सहायता न लेवे हाँ इधर उधर हो जावे तो फिर अविद्या अविद्या उत्पन्न हो जाएगी और फिर उसको उल्टा दिखने लगेगा आप अनुभव कर सकते हैं जिन विषयों का आपको श्रवण करवाया जा रहा है जिस स्थिति में ले जाके समझाया जा रहा है जैसे उनकी रूपरेखा आपके सामने रखी जाती है ये कितना सूक्ष्म है कितना गंभीर है कितना अनुभव पूर्वक है और कितनी गहराई उसकी कल्पना आप थोड़े से परिश्रम से नहीं कर सकते थोड़े से काल से भी नहीं कर सकते कितना समय चाहिए कितना काल चाहिए कितना परिश्रम चाहिए कितना वैराग्य चाहिए कितना त्याग चाहिए कितना संयम चाहिए कितना अध्ययन अध्यापन चाहिए तब आप सोच सकते हैं कि ये गहराई कहाँ तक पहुंची हुई है और इनकी गहराइयों इन गहराइयों में गया हुआ व्यक्ति कैसे सोचता है ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति बनी रहती है और वो बनाए रखता है और उसको यदि वो भंग होने देता है स्थिति को तत्काल अविद्या उत्पन्न नहीं समझ में आया हो तो पूछो क्यों जी आ गया अब एक गहराई में चलिए ईश्वर के विषय में ज्ञान विज्ञान हुआ और ज्ञान विज्ञान होने पर लौकिक दृष्टि से हम जब देखने लगे एक खंभा है एक वृक्ष है वो एक पदार्थ दिखाई देता है वस्तु दिखाई देती ठीक है ना पर ईश्वर ऐसा लोथड़ा जैसा पेड़ जैसा <laughs> तो दिखाई देता नहीं क्या समझ में आया है पर खम्भे के समान हमको दिखाई नहीं देता और खम्भे का प्रभाव पेड़ का प्रभाव तो वही पदार्थ है गिर गया तो हमारा कचुम्बर निकाल देगा इसमें इतना भार है और एक समुदाय बना हुआ पदार्थ है ऐसा खम्भे की तरह ऐसा तो ईश्वर दिखाई देता नहीं जब नहीं देता तो उसके विषय में कितना संदेह उत्पन्न हो सकता है क्या समझ में आया ईश्वर वास्तव में पदार्थ है या नहीं खंभे जैसा वृक्ष जैसा पदार्थ है या नहीं संदेह होगा या नहीं होगा हाँ जी बोलो हम्म? शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से बार बार बार बार चिंतन किए जाने पर संदेह दूर भी हो सकता है दूर हो सकता है और फिर आ भी सकता है वो एक बार हट गया और फिर नहीं आएगा ऐसा मत सोचना आपने कभी कभी ज्ञान के स्तर सुने हैं ना अभावात्मक स्थिति हम जानते ही नहीं पदार्थ को हमको पता ही नहीं जाना तो उसको विपरीत जाना ये भ्रमात्मक स्थिति ज्ञान की हो गई फिर भ्रमात्मक स्थिति से उभरे तो संदेहात्मक स्थिति हो गई तो संदेहात्मक स्थिति से उभरे तो निर्णयात्मक स्थिति हो गई निर्णयात्मक स्थिति से फिर संदेहात्मक वही स्थिति हो गई संदेहात्मक से भ्रमात्मक स्थिति होगी भ्रमात्मक हम बिल्कुल भूल गए उसको पदार्थ को जानते थे और पांचवी हो जाना तो उसको कुछ जाना और कुछ नहीं जाना ये पांच हो सकती है क्या समझे आप नहीं आ समझ पांच आ गई पांच हो गई पूरी एक विषय हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते कुछ तो अच्छा जानते और कुछ बिल्कुल नहीं जानते एक ही पदार्थ के विषय ना नहीं है ऐसा ऐसा होता है नहीं होता शरीर के विषय में हम कितनी हड्डी है मोटी मोटी ये हम जानते सूक्ष्म हड्डियां कितनी हम बिल्कुल नहीं जानते अब तो आया समझ में यह अंतर है या नहीं है एक तो बिल्कुल नहीं जानना बिल्कुल हमारा ज्ञान उस विषय में है ही ज्ञान हुआ तो शत प्रतिशत रस्सी को सांप देखने लगे ये हो गया भ्रमात्मक ज्ञान और उसमें संदेह हो गया संशय हुआ तो उसमें ज्ञान हुआ कि पता नहीं ये रस्सी है या सांप है फिर अंतिम निर्णय हो गया उसके लक्षणों से कि सांप ही है अब थोड़ा सा और विवेचन करें तो सांप के विषय में कुछ तो चीजें हमको बिल्कुल ज्ञात है उसका मुंह होता है अंदर का ज्ञान विज्ञान उसकी नसनाड़ियां कैसे काम करती हैं पाचन क्रिया कैसे होती है मेंढक को खा लेता है वो कैसे पचता है ज्यो का जो निगल जाता है उसके विषय में हमको कुछ ज्ञान नहीं है उसी